परम पिता परमात्मा का स्मरण प्रणव ध्वनि ओ धर्म प्रेमी सज्जनों वेद हमें ये बताता है कि ईश्वर किन गुणों से युक्त है ईश्वर का स्वरूप क्या है आज जिस वेद मंत्र को हम ले रहे हैं वो यजुर्वेद के पांचवें अध्याय का इकतीसवां मंत्र है और आर्याभिविनय में द्वितीय प्रकाश का सोलहवा मंत्र है परमात्मा की स्तुति गुणों का बखान इस मंत्र में किया गया है एक आर्य परमात्मा को संबोधित कर रहा है हे परमात्मा आप ऐसे ऐसे हो इस मंत्र के माध्यम से ईश्वर हमें यह उपदेश दे रहा है कि हमें मनुष्यों को परमात्मा को इस रूप में देखना चाहिए परमात्मा को इस रूप में संबोधित करना चाहिए कि हे परमात्मा आप ऐसे ऐसे हो मंत्र में कहा विभुरसी प्रवाहण हे परमात्मा आप विभु असी विभु हो विभु का अर्थ व्यापक विशेषण भवती इति जो विशेष रूप से होता है विशेष रूप से होना कैसे कि जो सामान्य रूप से ना हो सामान्य रूप से कैसे होते हैं जैसे संसार की अन्य वस्तुएं चेतन अथवा जड़ जगत वो किसी स्थान पर ही होते हैं उनका निश्चित क्षेत्र होता है उतनी ही स्थान पर होते हैं उससे अतिरिक्त अन्य स्थानों पर वो विद्यमान नहीं होते कोई यहां है तो वहां नहीं होगा वहां है तो यहां नहीं होगा यह है सामान्य रूप से होना होते तो सब हैं विद्यमान तो सब होते हैं तो परमात्मा विभू है विशेष रूप से होने वाला है विशेष रूप से विद्यमान है और उसकी विशेषता ये कि वो यहां भी है और वहां भी है इधर भी है उधर भी है ऊपर भी है नीचे भी है अंदर भी है बाहर भी है अर्थात सर्वत्र है इसलिए विभू का तात्पर्य हम लेते हैं वो सर्व व्यापक है सब जगह विद्यमान है ये विभू का पहला अर्थ है महर्षि ने यही लिखा हे व्यापकेश्वर परमात्मा को संबोधन में ही व्यापक कह दिया हे व्यापकेश्वर आप विभु हो अर्थात सर्वत्र प्रकाशित हो प्रकाशित यानी अपने धर्मों से युक्त हो जिस वस्तु का जो धर्म होता है वह धर्म वहां पर विद्यमान है सक्रिय है क्रियाशील है दूसरों के द्वारा जाना जाने योग्य है जाना जा सकता है जो चीज प्रकाशित होती है वो दूसरों को ज्ञात होती है जो अप्रकाशित होती है वो ज्ञात नहीं होती है परमात्मा सब जगह विद्यमान है और विद्यमान होते हुए वो प्रकाशित भी है वो छुपा हुआ नहीं है गुपचुप नहीं है वो प्रकाशित है वो देखा जा सकता है वो जाना जा सकता है लेकिन सामान्यतः हम ये समझते हैं चूंकि परमात्मा इन नेत्रों से नहीं देखा जाता अन्य इंद्रियों से ज्ञात नहीं होता इसलिए हम सोचते हैं कि परमात्मा यहां पर नहीं है लेकिन वास्तव में परमात्मा वहां प्रकाशित है जो वस्तु जिन धर्मों से युक्त होती है वो उन्हीं गुणों से ही तो प्रकाशित होगी परमात्मा में जब शब्द स्पर्श आदि इंद्रिय ग्राह्य गुण नहीं है तो उस रूप में तो वो वहां प्रकाशित नहीं है लेकिन परमात्मा न्यायकारी है तो हर जगह वो न्याय कर रहा है परमात्मा पालक है तो हर स्थान पर पालन कर रहा है रक्षक है तो रक्षा कर रहा है आनंद स्वरूप है तो उसका आनंद वहां विद्यमान है योगी लोग जहां भी जाएंगे वहां उसका आनंद ले सकेंगे वो लेते हैं जो मुक्ति में है वो आत्माएं जहां भी जाएंगी वहां परमात्मा का आनंद और ज्ञान प्राप्त करते रहेंगे तो इस रूप में परमात्मा सर्वत्र व्यापक है अर्थात सब जगह प्रकाशित हो रहा है उसकी सत्ता उसके गुणों के माध्यम से प्रकट हो रही है इसलिए महर्षि ने कहा आप विभू हो अर्थात सर्वत्र प्रकाशित हो सर्वत्र प्रकाशित के बाद में एक अर्थ और लिखा वैभव ऐश्वर्य युक्त हो यह भी विभू का अर्थ खोला है वैभव ऐश्वर्य से युक्त हो वैभव भी शब्द इसी से बना है हम उन व्यक्तियों को कहते हैं इनका बड़ा वैभव है बहुत अधिक धन संपत्ति गुणों का उत्कर्ष अच्छा स्वास्थ्य है सौंदर्य अच्छा ज्ञान पर सामान्य रूप से हम धन संपत्ति आदि के अर्थों में वैभव को लेते हैं राजाओं का बड़ा वैभव होता था धन संपत्ति और उनके सेवक आदि रथ आदि भवन ये सब चीजें तो परमात्मा को कहा विभु रसी हे परमात्मा आप विभू हो तो अब दूसरे अर्थ की दृष्टि से कहेंगे कि परमात्मा वैभव से युक्त है वो निर्धन नहीं है वो साधनों से रहित नहीं है वो वैभव से युक्त है विभू रसी ऐश्वर्य से युक्त हो विभिन्न गुण आप में है जैसे कोई राजा रत्न स्वर्ण आदि से युक्त होता है और हमें लगता है कि ये वैभव से युक्त है हमारी आंखें चौंधी आती हैं हम उससे प्रभावित होते हैं ये इसका वैभव है कुछ वैभव हमारे पास भी होता है थोड़ी धन संपत्ति हमारे पास भी होती है लेकिन जब हम अपने से सौ गुना हजार गुना लाख गुना धन संपत्ति से युक्त व्यक्ति को देखते हैं उसके वस्त्रों को विशिष्ट वस्त्रों को देखते हैं उसके वाहनों को देखते हैं उसके खाने पीने की चीजों को देखते हैं उसके रहने के कमरों को देखते हैं तो बोलते हो वैभव है इसका हम उससे प्रभावित होते हैं हमें अंदर ये पता लगता है कि ये विशिष्ट गुण इसमें है ऐसे ही परमात्मा भी विभू है वैभव से युक्त है विभिन्न गुणों से युक्त है हमारे मन में आर्य के मन में मनुष्य के मन में परमात्मा के प्रति ये भाव आना चाहिए जिस प्रकार से भौतिक संपन्नता वाले व्यक्ति को देख के हम कहते हैं कि ये वैभव से युक्त है ऐसे परमात्मा के प्रति भी हमारे मन में भाव होना चाहिए कि दो ये इन अद्भुत गुणों से युक्त है जब हम किसी का वैभव देखते हैं तो मन में एक आश्चर्य होता है एक कौतुक होता है अचरज का भाव होता है पहली बार देख रहे हैं इतनी चीजें भौचक के रहते हैं हम ऐसा भाव परमात्मा के प्रति हो कि विभू रसी हे परमात्मा आप विभू हो आप इन गुणों से युक्त हो मनुष्यों के विभिन्न गुण ही हमें आश्चर्यचकित करते हैं किसी का शारीरिक बल किसी का शारीरिक सौंदर्य किसी का बुद्धि का बल ज्ञान का बल उसका व्यवहार उसका संतुलन उसकी शांति ये सब हमें आश्चर्यचकित करते हैं आकर्षित करते हैं ऐसे ही परमात्मा के विविध गुण भी हमें आश्चर्यचकित करने चाहिए हमें लगना चाहिए कि हे परमात्मा विभू हो इन वैभवों से युक्त हो एक हम सामान्य रूप से कहें कि हे परमात्मा आप सर्वव्यापक हो वो सर्वव्यापक हम बोल रहे हैं सर्वव्यापकता का अर्थ भी हमारे मन में है लेकिन उससे प्रभावित नहीं है ठीक है होगा सर्वव्यापक होगा सब जगह विद्यमान है हे परमात्मा आप सर्वज्ञ हो ठीक है सब कुछ जानता है वो उसको हम बड़ा सरल रूप में ले रहे हैं हाँ ठीक है सब कुछ जानता है वो जैसे हम किसी करोड़पति अरबपति खरबपति के लिए कहें ठीक है उसके पास एक खरब रुपए हैं ठीक है उसके पास सौ गाड़ियां हैं प्रभावित नहीं हो रहे उसका वैभव हमें प्रभावित नहीं कर रहा है ऐसा ही परमात्मा के प्रति भी हमारा भाव बन जाता है प्रतिदिन वही सुनते हैं वही विचारते हैं वो सामान्य हो जाता है लेकिन जहां हम अपने से तुलना करके देखते हैं मैं तो इतना छोटा सा हूं मेरा तो इतना थोड़ा सा ज्ञान है परमात्मा का ज्ञान मेरी अपेक्षा कितना है मेरे पास तो इतनी सी वस्तु है इतने से साधन है परमात्मा के पास कितने साधन है इस भावना को बनाने के लिए और परमात्मा की तरफ व्यक्ति तभी आकर्षित होता है इन शब्दों को बोलते हुए उस तरह का भाव हमारे मन में हो तब हम उसकी तरफ बढ़ते हैं तब हम उसके लिए लालायित होते हैं नहीं तो इन शब्दों को बोलते हुए और इनका अर्थ भी सामान्य रूप से ठीक ही समझते हुए हम उसकी तरफ आकर्षित नहीं होते उसकी सन्निधि नहीं चाहते सामान्य हो जाते लेकिन आर्य क्या कहे परमात्मा को विभू रसी हे परमात्मा विभू हो वैभव से युक्त हो ऐश्वर्य से युक्त हम ऐसा ही देखें परमात्मा को ऐसा ही कहें ये वेद मंत्र कह रहा है परमात्मा स्वयं इस बात का आदेश निर्देश दे रहा है ऐसी ही बात अन्य शब्दों के साथ भी हम लगाएंगे तो विभुरसी प्रवाहण आप प्रवाहण हो वह धातु बहने अर्थ में प्राप्त कराने अर्थ में प्रकर्ष रूप से आप प्राप्त कराने वाले हो प्रकर्ष रूप से आप पहुंचे हुए हो विभू के जो दो अर्थ किए थे उन्हीं की संगति में प्रवाहण के भी अर्थ महर्षि ने किए क्या कहते हैं आप सब जगत के प्रवाहण इसको खोला गया है स्व स्व नियम पूर्वक चलाने वाले हो हर वस्तु को अपने अपने नियम में आप चलाते हो व्यवस्थित रखते हो इसको विभू के पहले वाले अर्थ से जोड़ के देखेंगे परमात्मा सर्वव्यापक है इसीलिए वो सब वस्तुओं को अपने अपने नियम से चलाने वाला है उनकी व्यवस्था वो कर सकता है यदि विभू नहीं होगा तो वो प्रवाहन भी नहीं हो पाएगा जैसे नाव को चलाने वाले होते हैं सेलर होते हैं ठीक ढंग से चलाते हैं वाहन को चलाने वाले होते हैं ठीक ढंग से चलाते हैं ऐसे परमात्मा इन लोक लोकांतरों को चंद्रमा को पृथ्वी को सूर्य को आकाश गंगाओं को व्यवस्थित रूप से चला रहे प्रवाहन है जितनी भी चीजें चल रही हैं वो परमात्मा की व्यवस्था से चल रही है गति उनकी अपनी हो लेकिन उनकी व्यवस्था दिशा परमात्मा के द्वारा की गई है इसलिए परमात्मा को कहा प्रवाहणा असी हे परमात्मा आप प्रवाहण हो इनको ठीक ढंग से चला रहे हो इसको विभू के साथ में जोड़ के वे संगति लगाएंगे बिना विभू हुए परमात्मा इन सबको ठीक ढंग से नहीं चला सकता परमात्मा प्रवाहन है इसी से सिद्ध है कि वो विभू है परमात्मा विभू है इसीलिए वो प्रवाहन है और दूसरा अर्थ किया महर्षि ने प्रवाहन का तथा सबके निर्वाह कारक भी हो हमारे जीवन का निर्वाह हम करते हमारे परस्पर संबंधों का हम निर्वाह करते माता पिता बच्चों के पठन पाठन का आज जीवन जीने का चलाने का निर्वाह करते व्यक्ति अपने घर का परिवार का निर्वाह करता है धन संपत्ति से महिला पत्नी अपने परिवार का निर्वाह करती है भोजन आदि बना करके शुद्धि आदि करके शिक्षा दे करके तो हम दूस, दूसरे का निर्वाह करते हैं चलाते हैं उस चीज को तो परमात्मा सबका निर्वाह कारक है हमारा कौन निर्वाह कर रहा है परमात्मा सबका निर्वाह कर रहा है और वो निर्वाह क्यों कर पाता है कैसे कर पाता है विभू रसी क्योंकि वो विभू है समस्त वैभव और ऐश्वर्य से युक्त है जो पति या पुरुष धन से युक्त ना हो वो परिवार का घर का निर्वाह कैसे चलेगा करेगा जो गृहिणी निर्माण आदि नहीं कर सकती हो जानती नहीं हो वो घर का निर्वाह कैसे करेगी बच्चों को कैसे पालेगी पोसेगी तो परमात्मा विभू है वैभव ऐश्वर्य से युक्त है इसी कारण से वो प्रवाहन है सबका निर्वाह कर रहा है हम थोड़े थोड़े अंशों में एक दूसरे का निर्वाह करते हैं लेकिन हम सबका निर्वाह हमारे अपने जीवन का भी निर्वाह परमात्मा कर रहा है उसी के आधार पर हमारा जीवन चल रहा है तो मंत्र का ये एक भाग हुआ विभू रसी प्रवाहणा आगे कहा वन्नी रसी हव्यवाहन हे परमात्मा आप वन्नी हो वन्नी आग का पर्यायवाची है अग्नि का पर्यायवाची है वन्नी शब्द का अर्थ ही होता है वोढ़ा वहन करने वाला ढोने वाला ले जाने वाला ये परमात्मा वन्नी है वन्नी के रूप में कहा जा रहा है परमात्मा किसको ले जाता है कहां ले जाता है ये परमात्मा आप वन्नी हो वोढ़ा हो ढोने वाले हो किसको ले जाता है तो आगे दूसरा शब्द कहा हव्य वाहन आप हव्य के वाहन हो हव्य को ले जाने वाले हो हव्य किसे कहते हैं जो देवताओं के लिए ले जाया जाता है उसको हव्य बोलते हैं हम हवन करते हैं होम करते हैं इसमें कुछ किसी वस्तु को समर्पित करते हैं जिस वस्तु को हम समर्पित करते हैं उसे हव्य बोलते हैं हवन के योग्य अग्नि के हवन के योग्य देवता को दिए जाने योग्य ये अग्नि भी हव्य वाहन कही जाती है इसमें हम विभिन्न देवताओं का नाम लेकर के आहुति देते हैं वायु अग्नि सूर्य जल वरुण ये अग्नि उसको उस सामग्री को विभिन्न देवताओं तक पहुंचाने वाली होती है इसलिए इसको भी कहा जाता है हव्य वाहन और ये भी वन्नी है वोढ़ा है तो परमात्मा को कहा जा रहा है हे परमात्मा वन्नी रसी हव्य वाहन आप वाहन करने वाले हो परमात्मा विभिन्न चीजों को इधर उधर ले जा रहा है पहुंचा रहा है हम मनुष्य है प्राणी है हमारे जीवन के लिए जो आवश्यक है हवा का चलना बहुत आवश्यक है वो परमात्मा इस ये भी हमारे लिए हव्य है हम इसको लेते हैं अंदर लेते हैं इससे हमारा पोषण होता है जैसे हम देवता के लिए कोई वस्तु भेंट करते हैं इससे देवता का हित होता है उसकी वृद्धि होती है ऐसे हमारे लिए हमारे शरीर में ये आहुति डल रही है परमात्मा इसको ले जा रहा है हमें जल की आवश्यकता है परमात्मा जल को पहुंचा रहा है वहन कर रहा है समुद्र से उठा करके इधर तक पहुंचा देता है यहां से वापस अतिरिक्त होता है फिर जल में चलता है समुद्र में चला जाता है ये सारा का सारा वाहन वो कर रहा है इन सब हवियों को वो पहुंचा रहा है भूमि में जो पोषक तत्व है सूर्य में जो ऊर्जा है वो हम तक पहुंचा रहा है उसकी व्यवस्था से आ रही है सूर्य की ऊर्जा अन्न में फल में आकर के इकट्ठी हो रही है हम उसको खाते हैं और हमारे को ऊर्जा मिल जाती है वो हव्य का वहन करता है वो ढा है सबको ला रहा है दे रहा है हर चीज है पेड़ पौधों में नीचे से ऊपर तक चीजें जा रही हैं जमीन से ऊपर तक पहुंच रही है पत्ते पत्ते में पहुंच रहा है पोषण हमारे शरीर में भी जो हम खाते हैं वो सब जगह पहुंच रहा है कैसे पहुंच जाता है किसकी व्यवस्था से पहुंच रहा है वन्नी रसी हे परमात्मा आप वन्नी हो बोढ़ा हो हव्य वाहन इन सब वाहन हव्य को ले जाने वाले हो आप ही पहुंचाते हो आगे कहा श्वात्रो असी प्रचेता हे परमात्मा आप श्वात्र हो श्वात्र का मतलब होता है शीघ्र गतिशील तीव्र गति वाला स्वात्र शब्द स्वतंत्र भी निरुक्त में पढ़ा गया है और वो क्षिप्र के नामों में पढ़ा गया है क्षिप्र यानी शीघ्र स्वात्र शब्द शीघ्र के नाम से पढ़ा गया परमात्मा बहुत शीघ्र है अशुकारी है स्वात्र शब्द धन नाम में भी पढ़ा गया है पद नाम में भी पढ़ा गया है लेकिन महर्षि ने भी जो यहां अर्थ किया क्षिप्र अर्थ में किया स्वात्र और इसको इसका निर्माण भी दो ढंग से होता है शु और अत सातत्य गमने शु पूर्वक शु उपपद पूर्वक अत सातत्य और शु शब्द भी निरुक्त में शीघ्र के अर्थ में पढ़ा गया है क्षिप्र नामों में पढ़ा गया है जैसे श्वात्र शब्द क्षिप्र नामों में पढ़ा गया है ऐसे शुह शब्द भी क्षिप्र नामों में पढ़ा गया है तो शुभ माने क्षिप्र और फिर अत धातु सातत्य का मैंने सतत शीघ्र परमात्मा सतत चलता रहता है सतत चलता है और वो शीघ्र चलता है शीघ्र गतिशील है शु और अत में वर्ण व्यत्यय किया जाता है ऊ को पहले आशु शब्द से भी इसको बनाते हैं श्वात्र शब्द को आशु अतति गच्छति इति श्वात्र तो आशु मतलब तो शीघ्र होता ही है हम समझते हैं उस आशु शब्द में वर्ण व्यत्यय करते हैं विशोधर आदि मान करके श को पहले आशु में ऊ को आशु गच्छति शू में शू में जैसे शू में नहीं हाँ आशु में आशु में शु को पहले कर दिया आ को बाद में कर दिया आशु में वैसे तो आ पहले है और शु बाद में है आशु लेकिन इसको विपरीत करते हैं वर्ण शु को पहले करते हैं और आ को बाद में करते हैं फिर ऊ को व करके श्वा बन जाता है और अत धातु स्थित और फिर रट प्रत्यय करके स्वात्र बनाया जाता है तो परमात्मा के लिए कथन किया गया श्वात्रोसी आप शीघ्रकारी हैं क्षिप्रकारी हैं परमात्मा के यहां पर देर नहीं होती है जो लोकोक्ति प्रचलित हो गई है परमात्मा के यहां देर है पर अंधेर नहीं है उक्ति तो प्रशंसा के अंदर है कि परमात्मा के यहां देर नहीं होती अंधेर नहीं होती है लेकिन साथ में देर होना यह कथन कर दिया जाता है परमात्मा के यहां देर भी नहीं होती है हमें प्रतीति होती है देर है इसे देर होना नहीं कहते बीज हमने बोया है और तीन महीने बाद ढाई महीने बाद यदि अन्न आता है कोई कह सकता है कि देर हो रही है लेकिन देर नहीं है डालते ही बीज का बनना उगना प्रारंभ हो चुका है पौधा बनना प्रारंभ हो गया वो प्रक्रिया आवश्यक है परमात्मा के यहां पर देर नहीं होती है और परमात्मा किसी भी कार्य को जितनी शीघ्रता से कर सकता है वो कर लेता है वो शीघ्र कार्य है देर नहीं होती है वहां तो असी और उसके आगे कहा प्रचेता तो महर्षि ने लिखा है आत्मन आप शीघ्र व्यापनशील हो ये का अर्थ कहा तथा प्रकृष्ट ज्ञान स्वरूप प्रकृष्ट ज्ञान के देने वाले हो प्रचेता हो प्रकृष्ट ज्ञान वाले हो और प्रचेता हो परमात्मा का ज्ञान भी ऐसा है कि वो शीघ्र काम करता है तत्काल निर्णय देता है जैसे बहुत अच्छे कंप्यूटर होते हैं सुपर कंप्यूटर होते हैं वो गणनाओं को बहुत शीघ्र करते हैं बहुत शीघ्रता से देते हैं वो आशुकारी होते हैं इसलिए ज्ञान की स्थिति उन सुपर कंप्यूटर में बहुत अधिक होती है ऐसे ही परमात्मा शीघ्रकारी है शीघ्र निर्णय तत्काल निर्णय बिना किसी समय के बिताए इसलिए परमात्मा प्रचेता है वो ज्ञान को देने वाला है और किसी भी समय ज्ञान दे सकता है कभी भी ज्ञान दे सकता है एक क्षण में उसी समय तत्क्षण ज्ञान दे सकता है हमें दिशा निर्देश कर सकता है उसको देर नहीं लगती है जैसे ही उपयुक्त समय आएगा वो हमें प्रेरणा देगा और हमें ज्ञान प्राप्त होगा आगे कहा तुथोसी विश्व वेदाह हे परमात्मा आप तुथ हो तुथ के लिए खोला गया है तुथो वही ब्रह्म शतपथ ब्राह्मण में कहा गया तुथ का मतलब ब्रह्म ब्रह्म यानी जो बड़ा है सबसे तुथ इसमें तुथ में तू धातु है गति वृद्धि हिंसा अर्थों के अंदर तो वृद्धि अर्थ भी है उसका तौती तवीती तुथ जो फैला हुआ है वृद्ध है बड़ा है ब्रह्म है तो इसलिए तुथ ब्रह्म के नामों में पढ़ा गया ब्रह्म तुथ मतलब ब्रह्म तो स्वामी जी ने लिखा तुथो वही ब्रह्म आप तुथ और विश्व वेदा हो विश्व वेदा तो लिखा ही है और अन्य संहिताओं में भी इसको बिल्कुल जो को तुथ और विश्व वेदा दोनों शब्द साथ साथ आए हैं जैसे यहां पर आए हैं तो आप सब जगत में विद्यमान हो क्योंकि आप ब्रह्म हो सबसे बड़े हो व्यापक हो और गति अर्थ भी है आप सब जगह फैले हुए हो प्राप्त हो और विश्ववेदा सबको आप प्राप्त कराने वाले हो सब प्राप्तियां आप ही कराते हो चूंकि आप सब जगह विद्यमान हो इसलिए सब प्राप्तियां आप ही हमारे को कराते हो शतपथ ब्राह्मण में एक वचन इसी संबंधित है ब्रह्म वही तुथ यहां नीचे लिखा था तुथो वही ब्रह्म वहां पर आगे पीछे करके शब्द लिखा है ब्रह्म वही तुथ और एक वचन मिलता है सत्यम वही तुथो विश्व वेदा सत्यम वही तुथो विश्व वेदा वो परमात्मा सत्य स्वरूप है सबको जानने वाला है सबको प्राप्त कराने वाला है वस्तुओं को देने वाला है हव्य वाहन वन्नी इसके संदर्भ में महर्षि ने एक बात और लिखी है वन्नी के अर्थ में हे स्वप्रकाशक वन्नी जैसे स्वप्रकाशक होती है वन्नी को देखने के लिए अग्नि को देखने के लिए दूसरे दीपक की आवश्यकता नहीं होती वो स्वयं ही अपना बोध कराती है इसलिए विशेषण दिया है स्वप्रकाशक परमात्मा को जानने के लिए किसी और साधन की आवश्यकता नहीं है परमात्मा तो ऐसे जाना जाता है जैसे कि अग्नि जानी जाती है जैसे अग्नि स्वयं अपना स्वरूप जनाती है हमें अन्य माध्यम की आवश्यकता नहीं ऐसे ही परमात्मा भी अपना स्वरूप हमें जनाता है स्वयं जनाता है हमें अन्य साधन की आवश्यकता नहीं है केवल आंख होनी चाहिए केवल पात्रता होनी चाहिए परमात्मा तो स्वप्रकाशक है इसलिए हे स्वप्रकाशक फिर विशेषण दिया सर्व रस वाहकेश्वर सब रसों के वहन करने वाले आप ईश्वर हैं सब रसों के जो विभिन्न पेड़ पौधों वनस्पतियों में रस आ जा रहा है उसके लिए महर्षि संकेत कर रहे हैं ये हव्य वाहन के लिए ये सारा का सारा हव्य है पेड़ पौधों में जो भी आ जा रहा है चढ़ रहा है वन औषधियां वनस्पतियां पक रही हैं गुण वाली बन रही हैं ये सब हव्य का वाहन कर रहा है वो और किसके लिए हमारे लिए जीवों के लिए मनुष्यों के लिए तो विशेषण दिया महर्षि ने सर्व रस वाह रस वाहकेश्वर आप वन्नी है अर्थात सब हव्य उत्कृष्ट रसों के जो जो उत्कृष्ट रस हैं उनके क्या हैं आप भेदक उसको भिन्न भिन्न करने वाले अग्नि भेदक होती है छिन्न भिन्न करती है वस्तु को अलग अलग करती है ऐसे परमात्मा भी विभिन्न उत्कृष्ट गुणों के भेदक हैं अलग अलग करने वाले हैं हमें जो चाहिए वो हम ले सकते हैं यदि हमारे शरीर में रूक्षता है हमें स्निग्धता चाहिए तो स्निग्धता को उसने अलग से दिया है अलग पदार्थों में दिया है और यदि स्निग्धता अधिक है हमें रूक्षता लानी है तो उसने रूक्षता भी भिन्न पदार्थों में दी है भूमि में तो वो सब साथ ही थी चीजें मूलभूत चीजें तो सब साथ ही साथ थी वहां भिन्नता थोड़ न थी लेकिन उसको परमात्मा ने अलग कर दिया है ये चीज यहां मिलेगी ये चीज यहां मिलेगी ऐसे विभिन्न पदार्थों के अंदर उस अग्नि ने पदार्थों को रसों को भिन्न भिन्न कर दिया वो भेदक है सबको अलग अलग कर देता है और उत्कृष्ट उत्कृष्ट रसों के भेदक उत्कृष्ट रसों के आकर्षक आप उत्कृष्ट रसों के आकर्षक को खींच लेते हो भूमि में जो उत्कृष्ट रस है उसको खींच करके ऊपर चढ़ा देते हो पहुंचा देते हो हमारे शरीर में हमने जो भोजन लिया है उसमें से जो उत्कृष्ट रस है उसको ले लेते हैं आकर्षक है कि परमात्मा की व्यवस्था से हो रहा है ये हवे का वहन कर रहा है परमात्मा तथा यथावत स्थापक हो उनको ठीक ठीक जगह पर स्थापित भी करते हो वहीं ठीक जगह पहुंचाते हो उत्कृष्ट रसों के भेदक हो अलग अलग करते हो उत्कृष्ट रसों के आकर्षक हो और उन उत्कृष्ट रसों को यथावत पहुंचाने वाले हो हमने भोजन किया भोजन करने के बाद में वो विभिन्न घटकों में अलग अलग होता है भेदक होता है उसका पाचन होता है भिन्नता होती है टूटते हैं वो विघटित होते हैं ये कौन कर रहा है ये परमात्मा की व्यवस्था से हो रहा है और भिन्न भिन्न करने के बाद में उनको शोषण करने वाला आकर्षित करने वाला कौन है वो भी परमात्मा है भोजन आतों में अवशोषित होता है और फिर उन तत्वों में से कौन सा तत्व शरीर में कहां पहुंचे कैल्शियम फास्फोरस को यदि हड्डियों में पहुंचना है तो वहीं जाकर के पहुंचेगा वो जहां जो आवश्यक है लोहा है वो वहां जहां पहुंचना है वहां पहुंचेगा कौन सी वस्तु कहां पहुंचे किस वस्तु का उत्कृष्ट रस का स्थापन कहां करना है ये कौन जानता है ये कौन कर रहा है हम तो नहीं जानते तो परमात्मा इन सब रसों का उत्कृष्ट रसों का जो कि हव्य है हमारे लिए इस आत्मा के लिए हव्य है विविध हव्यों को उसने बना करके रख रखा है तो वो सब रसों का वाहकेश्वर है सर्व रस वाहकेश्वर आप सब हव्य उत्कृष्ट रसों के भेदक हैं आकर्षक हैं और यथावत स्थापक भी है परमपिता परमात्मा इन सब गुणों से युक्त है इन सब कर्मों को कर रहा है क्षिप्र है सतत कर रहा है लगातार शीघ्रता से कर रहा है ऐसे उस परमात्मा की भावना हमारे मन में रहे परमात्मा का स्वरूप हमारे मन में इस प्रकार का रहे यही परमात्मा ने हमें उपदेश दिया है महर्षि ने इस मंत्र को बहुत अच्छे ढंग से खोला आर्यों के मन में परमात्मा के प्रति इस प्रकार के भाव रहे प्रणव ध्वनि ओ शांतिरक्ष शांति पृथिवी शांतिराप शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शांति शान्तिरेव शांति साम शान्तिरेधि ओ शांति शांति शांति सर्वेभ्यो नमः